मंसूर ने यही हदीस अपनी सनद से रिवायत की कहा कि बनी अब्दुल मुत्तलिब की दो लड़कियां लड़ती हुई आईं तो आपने उन दोनों को पकड़ लिया उस्मान ने कहा आपने उन दोनों को जुदा कर दिया और दाऊद रहीमउल्ला ने कहा उन्हें एक दूसरे से छुड़वा दिया और उसकी कोई परवाह न की सुनने अबू दाऊद हदीस नंबर सात सौ सत्रह